पूज्य करके शंकर जी कह रहे हैं कि वास्तव में उस व्यक्ति का कोई धन्य है और जगत पूज्य है और वो समस्त जगत में पूज्य भी है और स्वयं सुख बनी तो वो व्यक्ति भी बड़ा परम पवित्र है कि श्री है पारायण जो श्री भगवान श्री राम जी का भक्त है उन्हीं में चित्त जो लगा हुआ है ऐसा न रहे उपज जिस कुल में ऐसा पुत्र उत्पन्न हो वो पुण्य है तो भक्त हो और उसके साथ में दिलीप शब्द भी जोड़ दिया ये मैंने भक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण विनम्रता है भक्ति का धर्म समझो भक्त का धर्म या भक्ति का लक्षण समझो ये ये है कि स्वयं प्रसन्न रहे और दूसरे को प्रसन्न रखे किसी को अप्रसन्न न करे दुखी न करे उसको पीड़ा न पहुंचाए कभी वचन से न बोले उसको व्यवहार इस प्रकार से करे कि अपने व्यवहार से दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो सुखी हो दुखी होने वाले व्यक्ति के भी दुख को भी अगर सुन लो तो उसका थोड़ा दुख उसको जो वो हो उसका शांत हुआ तो एक दूसरे का दुख भी सुन लो धैर्य रखो तो उनको जो है प्रकार से उनको शांति प्राप्त हो ये सोचे कि हम हमारे व्यवहार से हमारी वाणी से हमारे विचार से हमारे कार्यों से अन्य व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है अरे कोई व्यक्ति इसी बात में सुबह नमस्कार कर दिया तो सुख हो गया उसको ताकि जब आपको नमस्कार किया है तो सुख दिया दूसरे व्यक्ति को सुख तो मिला उसको क्या तो ये सोचो कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से सुखी हो सकता है वैसे तो उसको करते हैं ये भक्ति का ये लक्षण है और ये विनम्रता भी इसी ये विनम्रता का स्वभाव ये अन्य लोगों को सुखी करते हो तो विनम्रता है अब जब दूसरे से ऐसा व्यवहार करो कि लोग बात करने से डरे कटराए भागे देखने सामने तो इधर उधर हो जाए तो इसका मैंने कोई भक्ति है क्रूर व्यक्ति की गिनती हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की क्रूरता में आ जाएगी अरे साथ कोई बातें करना पसंद नहीं करता कुल धन्य कुल धन्य उमा सुनो ये पार्वती सुनो कुल धन्य है जिसमें कि ऐसा महापुरुष पैदा हो जो भक्त है विनम्र है समस्त लोगों को सुख देने वाला है वही उसी व्यक्ति को समझना चाहिए जगत में पूज्य है वही पवित्र है वही विनीत है जो भक्त है और उसका कुल भी धन्य तो भक्त के अधीन सारे हुए अरे भक्ति आ गई तो उसमें जितने भी प्रशंसनीय गुण है उस व्यक्ति में सब आ जाते हैं देख मत अनुरूप कथा मैं भाषे यद्यपि प्रथम गुप्त करी राशि मन प्रीत देखे अधिकारी तब मैं रघुपति कथा सुनाई कही सखी हसी नहीं जो मन लाए न सुन हरनी नहीं कहिए न लोभी क्रोधी कामी जो न भजई सचराचर स्वामी विद्रोही न सुनाई तब पद सरस हो नृत जब राम कथा के अधिकारी जिनके सत्संग अति प्यारी गुरु पद प्रीतमी सेवक अधिकारी काज विशेष सुखदाई जाय प्राण प्रिय गुराई राम चरण ज्योत है अथवा पद निर्माण भाव सहित सो यह करो श्रमण पुटपान की हमने कथा सुना दी मैंने सिर्फ शंकर जी भी कहते हैं कि कोई हम ऐसा अपना नहीं करते जैसी कथा जैसी कथा वास्तव में है वैसी सब हमने सुना भी नहीं कहते हैं हम जितनी बुद्धि में समझ में आई हमारे जितने हम धारण कर सके अपनी जो गहराई तक जा सके उतनी उनको सुना दी और कहते हैं जब भी प्रसन्न गुप्त कर रहा था पहले हमने इस कथा को गुप्त करके रखा था सुनाया जिसको शंकर जी पार्वती जी कहते हैं ये कथा हमने पहले अब बाल कानून जब देखो कथा सुनी थी जब पार्वती ने पूछी वहाँ पर तुलसीदास जी उसके पहले कहते हैं ये रच महेश निज मानस था और पाए से समय सुरासन भाखा रच महेश निज मानस राखा के मैंने गुप्त राखा मैंने भगवान ने शंकर जी ने जो कथा पर तो रखी भगवान की लेकिन अपने मन में ही रखी बोले तब बोले पाए से समय जब अवसर आया तब वही सती पार्वती जी शंकर जी के साथ सभा बनी रही जिसमें शंकर जी ने कथा नहीं सुनाई शंकर जी कुंभ के पास अगस्त के पास दक्षिण वहां तक दौड़े गए और अगस्त से कथा सुनी और उनको भक्ति भी सुनाई लेकिन ऐसा नहीं किया कि पार्वती जो हम वहां तक अगस्त यहाँ तक जाते हैं चलो बैठो तुम यहाँ हम तुमको कथा सुना देते हैं चित्र काल समय जब समय आया तब सुनाए समय आया तो मतलब मैंने और जब देखा कि उनकी मनोदशा इस प्रकार की है कि अब कथा सुनाने लायक है तब सुनाई मैंने इसमें भी मनोवैज्ञानिक स्थिति का अवलोकन करना चाहिए कौन व्यक्ति जरूर हो कथा सुनेगा और उसको लाभ होगा कौन सुनेगा नहीं सुनेगा सुन करके भी नहीं सुनेगा इतना नुकसान है अब देखो आगे कुछ लोगों का वर्णन करते हैं उनको कथा नहीं सुनानी चाहिए जब तब मन तुम्हारे तुम्हारे मन में जब देखा कि भगवान के प्रति बड़ी प्रेम हो गया है तब तब मैं रघुपति कथा सुनाई देखा कि भगवान के चरण की प्रीति में वो अगस्त ऋषि का जो आश्रम की कथा है उसको तुलसीदास ने ऐसे वर्णन किया है तो ऐसा लगता है शंकर जी को भगवान की कथा बड़ी प्रीति है लेकिन सती बनी सती वहां जाकर के कभी भी प्रसन्न नहीं आया कि सती ने भी वो कथा सुनी और बड़ी प्रशंसा बन गई ये दर्जन हो गई सुनकर के ऐसा कहीं प्रसंग है वहां पर ऐसा लगता है कि अगस्त शंकर जी दोनों के बीच में संवाद होता रहा और सती जी शायद कहीं आश्रम में इधर उधर टहलती रही हूँ पेड़ पौधे देखती रही हूँ मोरू उड़ रहे हैं उनको देख रहे हूँ चिंजन में गिर रही हूँ इस प्रकार से वहाँ आश्रम की शोभा सुंदरता घूम रही हो तो उन्होंने कहा शंकर जी कैसे तो रोज संख्या गोपाली रोज कथा करते रहते हैं इनमें क्या किसी बातों में इनको करने दो प्रत्यक्ष चलो हम विचार का आश्रम देते ऐसे करते उनका कुछ ध्यान रहा उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कथा तो शंकर जी भी जान गए कथा हाँ, अगर सती में कथा सुनी होती तो वही से निकल कर अगस्ती आश्रम से निकल करके भगवान राम जो सीता जी में दुखी होकर वो सीता सीतारण के जो प्रसंग चल रहा था वहाँ पर उनकी जिला को देख करके सती को ऐसा हो जाता कथा सुनने वाले को नहीं हो सकता अब जानती होती पहले कि तो भगवान राम और अवतार ले लिए वैसे लेकर किस प्रकार से कथा लीला करते हैं तो वहां पर उनको लोग न पड़ते जब उनके मन में कथा के प्रतिहित हुई लोगों में पड़ चुकी और सब उनके तो शरीर छूट गया पार्वती हुई तपस्या भी थी ये सब हुआ और सब चित्र से जब उनका हुआ तब अब कहते हैं कि फिर उनको जो हो भगवान के चरणों में प्रीति हुई तो पार्वती सती जी ने पार्वती जी ने एक बार उनसे शंकर जी से कहा कि भगवान आप पहले जैसा मोह हमको नहीं अब हमारा चित्त शांत हुआ भगवान के चरणों में हमारे प्रेम हुआ अब हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं तो अगर आप समझो कि अब हम सुनाने लायक हैं सुनने लायक हैं हम तो हमको वो कथा सुनाओ तो शंकर जी ने देखा कि हाँ उनके मन में अब तो है कथा सुनने की और कथा सुनने के लिए जिज्ञासा उनके मन में है और <clears throat> मैंने उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मैंने इतनी नहीं कि चलो खाली बैठे कभी सुनाओ ऐसे नहीं विशेष रूप से तो उनको जब उनने कथा में प्रीति ऐसे देखी तो उनको सब कथा करते हैं कि तब मन देखी प्रीति अधिकारी जब प्रेम की अधिकता देखी तब ये कथा सुनाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई तो कहते हैं ये न कहिए कथही हंसी नहीं तो ये कथा उन लोगों को कहना उन लोगों से बेकार है जो ऐसे अब इनको जो लक्षण यहाँ बताएंगे आप मिलाएंगे तो गीता में भी एकदम यही कहा गया है गीता में जो तो गीता समाप्त होने की अठारह अध्याय तो वहाँ पर भी गीता किसको सुनानी चाहिए किसको पढ़नी चाहिए किसके से लाभ होगा वहाँ का अन्य अन्य ग्रंथों में भी ऐसे आता रहता है भागवत आदि ग्रंथों में भी और प्राणों में भी इस प्रकार से आता रहता है तो उसी प्रकार उसी परम्परा से यहाँ पर ये भी बताते हैं कि इसके कथा क्या अनधिकारी व्यक्ति हैं किनको ये नहीं सुनानी चाहिए उनको सुनाने से उनको सुना व्यर्थ समझो तो कहते यह न कहिए सत ही सत को और हर एक तो सत को न सुनाओ और दूसरे हठी व्यक्ति को न सुनाओ उसका जगत जमाने है जो कि संसार में विष्णु में इतना अधिक लिप्त है जिसकी धारणा पक्की धारणा है कि संसार में अगर सुख है तो विषयों का सुख है और जीवन है तो इन विषयों का सुख भोगने के लिए इसके सुख व्यक्त कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति सच जाना उनसे कहो कि जीवन की कुछ और भी महान हर वैल्यू है उनसे भी जीवन देखिए और सब बेकार की बात है मैं क्या करा तो उनको कहते हैं लेकिन तो किसी सारे तो जो है कहीं कहीं तो इस प्रकार की याद आती तो ऐसे ऐसे लोग जो है कहते भैया मैं तो सब कर रही हूँ हम सीख नहीं हम सीख के मैंने जो हो सकता है इंटरव्यू सब व्यक्ति को पता नहीं सुनानी चाहिए अगर वो हसीन है जोड़ने उसके साथ में हंसने हंसने में कथाने है अगर हंस छोड़ मिल जाए और सत्ता करनी है तो सब सुधर जाए और हंस जो है उसमें तो ब्रेक लगा हुआ कि आगे बढ़ेगी सबसे ज्यादा जमाने जो जहाँ है वही ठीक है आगे कोशिश करना जो हम करो रुकी जाए वो हट हो गया नहीं जो मन लाए न सुन नहीं जो मन लगा करके भगवान की कथा न सुनो उसको क्या सुना जब कथा सुना उसको कथा सुनते सुनते वो निंदा करने लगे ये कथा तुम सुना रहे हो भगवान राम को रोने लगे पहले लोग बोले तो ऐसे करने लगे ये क्या कथा धरा हुआ ऐसे अगर बोलने लगे वो कथा की निंदा करने लगे तो उसको कथा क्या ये कथा सुनते सुनते जिसने में कथा तुम्हारी कथा बहुत हो गई अब देखो दुनिया की बातें कर लो अब इलेक्शन होने वाला है चलो तो उसकी भी बात कर लो अगर इस प्रकार मन लगा देने करें मन इधर उधर भागे उसको तो क्या पकड़ना हम्म? ये कथा सुनते सुनते मन में विक्षेप हो तो कथा न सुने अथवा कथा सुनते सुनते निद्रा हो ले और विक्षेप जो उसकी बात है इनके कारण मन लगा कथा नहीं सुन सकता जो मन लाए न सुनहारे लगे मन कम लगेगा जब लय न हो विक्षेप न हो दो शब्द संक्षेप में बार बार आते रहते हैं लेके माने निद्रा विक्षेप माने डिस्ट्रैक्शन मन दूसरी बातें आने लगे कथा सुन रहे कथा सुनेंगे में दूसरी दूसरी बातें सोच रहे बैठे बैठे जो मन लाए न सुन हर मिलने और कहीं न लोभी क्रोधी कानी और कभी कानी क्रोधी लोभी को भी कथने सुनानी चाहिए इनको क्यों नहीं सुनानी चाहिए इनका ध्यान दूसरी तरफ है लोभी लोभी को कथा सुनाओ तो लोभी व्यक्ति को लोभी जैसे भक्त अपने भगवान का भजन करता है जैसे लोभी का भजन करता है पर पर धन का भजन करना लोभी का धर्म है पर धन का भजन करना कि दूसरे का धन कैसे हमारे पास आ जाए दूसरे का धन कैसे आ जाए सब धन का संग्रह हमारे पास कैसे हो जाए ये लोभी का धर्म है और जो अपने इस प्रकार धन का भजन कर रहा हो और उसको भगवान का भजन सुनाओ बेकार भी व्यक्ति को तुम सुनाओ कि नई नई युक्तियाँ ऐसी निकली है ऐसा व्यापार निकला है ऐसा काम निकला है कि आप मिनटों में करोड़पति हो सकते हो हम्म। ये बताओ ये तरीका बताओ उसमें उसका कुछ चित्र लगे खूब आगे खुल करके सुनेगा और फिर उसके साथ वो यही करेगा दूसरी उसको कथा सुना अरे टाइम वेस्ट करने का था क्रोधी क्रोधी क्या सोचता रहता है क्रोधी जो है परद्रोह चिंतन में लगा रहता है परद्रोह चिंतन में किसकी निंदा करें किसकी जल उठा दें किसी झगड़ा करें किसी कभी कभी जो है वो जैसे कोई की इच्छा हो जाती है कभी कभी किसी गांव में रहते हैं शहरों में रहते हैं आसपास के लोगों की इच्छा होगी तो फिर में उसे झगड़ा पैदा करते हैं हम कुछ बात नहीं जरा से कोई बात उसमें देकर के झगड़ा बढ़ाएंगे और तो झगड़ा जैसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और मुकदमा तक जलेंगे और कचौरियों तक दौड़ेंगे और बदमाशों को लगाएंगे पिटवाएंगे मरवाएंगे और ये बढ़ते चला बड़ा मजा आता जिन लोगों को इस प्रकार मजा आ रहा है उनको कथा सुनाओ क्या फायदा है संसार में लोग उसी मजा आ रहा है लोग जो है जो परदार पर आए हैं या सरपुरुष पर आए हैं ऐसे लोगों को कथा सुनाओ तो उनका जो चिंतन उसी बात से परदारा के चिंतन में है परपुरुष के चिंतन में जिंदा उसी को सोचा करते हैं उनको कहो भगवान कथा सुनो उनको कहा उसी को सकते इन लोगों को कथा सुनाना देता है कहीं अरे लोधी क्रोधी कामी ऐसे लोगों को कथा सुनाना देता है जो न भजन सचराचर स्वामी जो कहते हैं जो सचराचर स्वामी का भजन नहीं करता उसको भी तथा सुनाने देता है भगवान को सचराचर स्वामी अब यहाँ भगवान राम का नाम नहीं लिया जैसे भगवान राम भक्ति राम भक्ति राम रघुपति राम करके बोलते रहते हैं लेकिन सचराचर स्वामी कह दिया ये कहा शंकर जी ने की भाई फिर राम का भजन न करे न करे लेकिन कृष्ण का भजन तो करे अरे शंकर जी का भजन तो करे उनको कथा सुनाओ लेकिन उनको कहीं सचराचर स्वामी किसी रूप में भजन नहीं करता न निर्गुण में न सगुण में न सगुण में ये अवतार न वो अवतार कहीं कोई किसी व्यक्ति को कहीं से उनको मानते नहीं उसलिए उसकी तरफ ध्यान है ही नहीं उसको कथा सुनाने से क्या फायदा और फिर आगे कहते हैं कि दिग्विद्रोही दिग्विद्रोही न सुनाइए कब अभी कहीं कहीं तो ऐसा न सुनाओ माने ऊपर के तो ऐसे कभी कभी सुना नहीं दे लो कथा हो रही है अगर कोई उनमें से आकर के कहानी रूप में बैठ गया है कथा कहते रहो लेकिन ब्रिज जो ही अगर बैठ गया आकर तथा स्नान तो कथा बंद कर दो ऐसा लगता है कहते ब्रिज द्रोही न सुनाइए कबहू ब्रिज द्रोही के माने अब जो ब्रिज द्रोही है तो उसके माने अध्यात्म मार्ग के द्वारा ही बंद होती है जल्दी अगर मुझसे आगे कर जो ब्रिज द्रोह है तो अपने उसका धन्यवाद उसकी रुचि होगी न परमात्मा रुचि होगी न अध्यात्म विद्या में कहीं रुचि होगी सब बात समाप्त इसलिए दिल द्रोही न तब भी और अब सरे सरिस हो इंद्र पर जब हूँ कहा कि चाहे तो वो इंद्र के समान राजा हो तो भी उसको मसला इंद्र के समान मैंने संसार के साधारण हूँ की बात ही क्या इंद्र के समान राजा के माने ये जो बात समर्थ हो बहुत धनवान हो और बहुत ऊंचे पद पर भी हो तो किसी उसके इंद्र के समान या कोई राजा के समान उसके सत्य के दबाव में आकर के ये कथा में सुनाओ उसके धन के लोभ में आकर के ये कथा में सुनाओ इसके साथ बड़ा धन है कथा सुना देंगे तो बड़ा धन मिलेगा ऐसा नहीं तो सुनाई कब हूँ सरपत सरे से हो नृत जब हूँ इसके मन में तो बिगड़े है इसलिए इसके इस प्रकार के ऊपर कोई काम नहीं करेगी कागर होगी नहीं उनकी भी बेकादर राम कथा के कई अधिकारी ये कौन अधिकारी व्यक्ति थे अभी तक तीन में बता तीन पंक्तियों वाले अधिकारी बता दिए अब बताते हैं कि देखो तीन पंक्तियों बताते हैं जो अधिकारी है कि राम कथा के कई अधिकारी कौन जिनके सत्संग के अति प्यारी जिनको सत्संग बहुत प्यारा है को भगवान की कथा के अधिकारी जो सत्संग समझते बेकार है समय को नष्ट करना इसकी जब मन चार काम और करेंगे बेकार अपना टाइम बर्बाद करो ऐसे लोगों के जो है कथा बेकार है सुनाना बेकार है लेकिन सत्संग फ्री हो सब काम छोड़ करके सत्संग में पहुंचे समझे सुने उनको ही कथा सुना उनके लिए अधिकारी देखते हैं उसकी क्योंकि और काम छोड़ करके आए हैं इसको मात्र समझते हैं इसका उनको ही सुनानी चाहिए कथा जिनके सत्संगति तैयारी गुरु पद प्रीत नीत रख जोगी और जो गुरु के चरणों में प्रीत हो और जो नीत को जानने वाले हो ऐसे लोगों को कथा सुनानी चाहिए जो गुरु के चरणों में प्रेम रखते हैं गुरु के चरणों में रहे उनको भी कथा सुना मैंने वो इसी मार्ग में है जो अध्यात्म मार्ग की तरफ आए थोड़ी सी आध्यात्मिक गुण उनके में आए सदगुण में जन्म के आए ऐसे व्यक्तियों को कथा सुनाओगे तो उनके सदगुणों के विकास होगा और पूर्णता की तरफ पहुंचेंगे और जो बिल्कुल विपरीत दिशा में सकती उनको ये कथा उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी बल्कि उनको कभी कभी हानि नहीं पहुंचा सकती है उनकी बुद्धि में विकृतियां उत्पन्न कर सकती है नहीं नहीं विकार उनको उत्पन्न कर देगी तो कहते गुरु पद प्रीति नीति अतिजी और दी सेवक अधिकारी से और जो बीजों के सेवक है इसका उल्टा हुआ बीज दो ही स्थान कर दिया सेवक जो जो विक्रम विसर्जन की सेवा करने वाले हैं उनके वो तो अधिकारी तो होती हैं उनको ये कथा सुनानी चाहिए उनको इस कथा से लाभ होगा ये कहते पाक ये विशेष सुगदायी और इस कथा के विशेष अधिकारी कौन है कि जाय प्राण प्रिय श्री रघुराई जिसे भगवान प्राणों के समान प्रिय है उनको तो कथा बड़ी सुविधाई होगी वो तो कोई कथा सुनेंगे बात ध्यान से सुनेंगे बड़े प्रेम से सुनेंगे एक बात भगवान को समझने की कोशिश करेंगे जी कहते हैं कहा प्रभु ये विशेष सुखदायी तथा सुखदायी है लेकिन सब इनको कम किसी को कम सुखदायी किसी को ज्यादा सुखदायी जो भगवान को जितनी अधिक चीज में भक्ति है उनके लिए उतनी अधिक सुखदायी कथा जिनको सुखदायी कथा है हाँ, तो उनको सत्संग भी सुखदायी लगे सत्संग सुखदायी लगे कथा सुखदायी लगे उनके आध्यात्मिक विकास के लिए सदमार्ग उसके मन खुला हुआ है और जिनको उसमें बाहर दिखाई दे तारीफ बड़ा मुश्किल काम है बेकार का काम है कष्टदायी करते है तो उससे कहानी हो रही है समय नष्ट हो रहा है शक्ति नष्ट हो रही है ऐसे समझने वाला व्यक्ति है उसके लिए फिर ये कथा या अध्यात्म विद्या कल्याणकारी उसके लिए राम चरणवती जो चाहे सभा पद निर्माण आज ये कथा भगवान की कथा का फल बताते हैं तो देखो दोनों प्रकार के फल इसकी कथा के हैं यदि कोई भगवान के चरणों में प्रेम चाहता है तो भी इस कथा से प्राप्त हो सकते हैं मैंने थोड़ी बहुत उसको सदगुण उसमें गति में हो और सत्संग में रुचि हो और वो भगवान की कथा सुनेगा तो उसमें भक्ति न होगी तो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी राम चाना रथ जो चाहे और अथवा दूसरा फल भी हो सकता है पद निर्वाण निर्वाण पद के मैंने मुक्ति चाहता हो मुक्ति तो ज्ञान की बिना होती नहीं उसके लिए मैंने यदि कोई व्यक्ति परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान चाहता हो और उसके द्वारा जो मुक्ति प्राप्त होती है वो प्राप्त करना चाहता हो तो भी इसे पता हो जाएगी ऐसा नहीं हम तो मुक्ति चाहते हैं हम तो ज्ञान चाहते हैं हमें इस प्रकार से क्या लेना देना ऐसा नहीं इस प्रकार से समझ ज्ञान वेदांत ज्ञान जितना है आत्मा का रूप परमात्मा का स्वरूप वो सब समझ में आएगा और उसे जो वो हो कर्म बंधन से छुटकारा पा करके मुक्त भी हो जाए किसी के मन में मुक्त किसी के मन में भक्ति ऐसे करके रहती है अध्यात्म के मार्ग में आपके किसी को मुक्ति अच्छी लगती है किसी को भक्ति अच्छी लगती है दोनों पर इस कथा को प्राप्त होने वाले हैं भक्ति भाव सहित सोइए कथा करो श्रवण पटपान अगर इस कथा को अपने कानों से श्रवण पुट से इनका काम करें जैसे कोई दुलंगुआ में पानी भर के पिए गिलास में पानी लेकर के पानी पिए ऐसी कथा को काम रूपी पात्र में लेकर के इस कथा रूपी रस को पिए तो उसको जाएंगे उसके फलस्वरूप भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी भाव सहित सोइए कथा लेकिन कथा को भाव के साथ करें जैसे ऊपर मन लाई की बात बात कही थी कि मन लगाकर भी कथा को करे जो मन लाए न सुन हरिणी नहीं जो भगवान की कथा को मन लगा करके नहीं सुनता उसको तो ये उसको तो सुना नहीं चाहिए लेकिन मन लगा करके जो सुनता है भाव सही सुनता उसको सुनाना चाहिए और उसको इसका फल भी भाव के साथ है प्रेम भाव के साथ भगवान में भाव रखे जिसके द्वारा जय कथा के द्वारा भक्ति प्राप्त होगी जीवन का विकास होगा उन्नति होगी शिक्षा प्राप्त होगी मानते निश्चित में हम जीवन में पहुंच जाएंगे समस्त पृथ्वी के भूषण बन जाएंगे यशस्वी बन जाएंगे अपने हृदय में शांति विश्राम मिल जाएगी इस प्रकार की कामना रखने वाले युवक की भावना रख करके जो इस कथा को सुनेंगे उनको ये फल प्राप्त भी होगा अब ये बालकानंद में बारे जो बातें कही थी उसी प्रकार की बात यहाँ पर भी है जो यही कथन समय समयता कहीं सुन यही समय सचेता तो वहां देखो समय के साथ कहने की बात कही थी वही यहाँ पर भाव के साथ कहते जो यही कथन समय समयता कहीं यही समय सचेता यही रामचरण अनुरागी कलमल रहित मंगल भागी वही बात यहाँ भाव सहित सो ये कथा करो समाप्त कृपान भाव के साथ इस कथा को सुनो तब उसका फल प्राप्त होगा किसी के साथ अब कई जो गए रह गए कई जो इस कथा का शंकर जी की तो कथा पूरी हो गई है अब इसके बाद यादव को जो है वो है भरतराज की कथा सुना रहे हैं तो उनकी कथा भी समापन होनी चाहिए तो शंकर जी की कथा समापन का आ रही है अब उनकी फिर याद भरद्वाज की कथा का समापन होकर के और तुलसीदास जी किसकी कथा सुना रहे हैं यादव भरद्वाज की कथा सुना रहे हैं थी तो जब ये कथा उनकी पूरी हो जाएगी तो हजार से की कथा पूरी हो जाएगी इस प्रकार का क्रम चलता है सबसे आगे आगे कालभूषणी चलते हैं पीछे पीछे शंकर जी की कथा चलती है पीछे पीछे या कोई भरद्वाज जी की कथा चलती है और उसके बाद तुलसीदास जी की कथा चलती है उसी तो क्रम से उसका समापन होता है नान्या रघुपति सत्यम बदाम नान्तरात्मा भक्तिन्द्रयच्छरविपुञ्जवशधराम्ने कामादिदोषरहितं कुरुमानसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय